आत्मा ब्रह्मेव आवश्यक इत्यादि श्रुतिभ्यो और दूसरा अप्रकरणाच दूसरे हेतु श्रुति श्रुतिभ्य श्रुति अन्य श्रुति पर ज्ञापन हो जाता है वास्तव में मोक्ष होता तो सूर्य द्वारा प्रयांति ये शब्दावली यहाँ जो है वो असमन्वय होगा क्योंकि अन्य अन्यत्र श्रद्धा कहती है जो मोक्ष पाया है वो कहीं आता जाता नहीं है या प्रयांति कैसे घटेगा और द्वारे कैसे घटेगा कारण भी है और गम्य स्थान में बता यत्र जहाँ ऐसे ऐसे लोग रहते तो वही वो जगह पहुंचेगा कर्मत्व तो कथन भी यहाँ वस्तु का कर्ण भी कथन है कर्म भी कहते है और गमन कर्तृत्व तो प्रयंत भी कथन हुआ जहाँ कर्तृ कर्म क्रिया तीनों देख रहा है और कर्म होता फल मिल रहा है जहाँ ऐसे स्थल मोक्ष की कल्पना करना उचित नहीं हो सकता इतना ही नहीं कद अप्रकरणाच प्रकरण यह क्या है तो अपर विद्या का प्रकरण है पर विद्या का प्रकरण तो है नहीं तो मोक्ष का प्रसंग कहाँ से आ सकता है अपर विद्या प्रकरण ही प्रवृत्त नहीं है नहीं मोक्ष मोक्ष प्रसंग और अपर विद्या का प्रकरण में जहाँ पर विचार करने के लिए आप प्रवृत्त हुए हैं ऐसी स्थिति में वह अकस्मात एकदम मोक्ष का प्रसंग तबका देना अनुचित होता है प्रसंग नहीं हो सकता नहीं अस्थित विरजतम तो आपेक्षिका इसे जो विरजत्व का अमृतत्व का अव्यात्मत्व का ये सारी चीज क्या है वो आपेक्षिक है निरपेक्ष नहीं है जहाँ पर अमृत रहते हैं अवे आत्मा रहते हैं और ये भी विरज होकर के जा रहा है इसलिए ये भी वहां पर जाकर अमर हो जाएगा ये भी वहां जाकर के जो है अभी आत्मा हो जाएगा ऐसा जो कहना है ये सब सापेक्षिक कथन है निरपेक्ष नहीं है स्वरूप कथन नहीं है समस्तम अपर विद्या कार्य साध्य साधन लक्षणम क्योंकि जो कुछ भी यहाँ कथन हुआ है वो सारी सारी बातें अपर विद्या का जो कार्य है साध्य साधन रूपा जो क्रियाकार का फल भेद भिन्नम द्वैतम क्रियाकार का फल भेद से भिन्न भिन्नता को युक्त रहने वाले पदार्थ को कहा गया है द्वैत को कहा गया है इसलिए मोक्ष का प्रसंग नहीं हो सकता एक हिरण्य गर्भ प्राप्त अवसानम ये कहने का इतना मतलब है भाई अपर विद्या का सर्वोत्कृष्ट फल नहीं मिल सकता है संसार में तो हिरण्य गर्भ प्राप्ति के सिवाय उससे आगे शुद्ध ब्रह्म प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती एक ही हिरण्य गर्भ प्राप्ति अवसानम क्या अपर विद्या कार्यम तथा च मनुन उक्त इसलिए मनु के द्वारा स्पष्ट कहा गया है स्थावरात्याम संसार गति अनुक्रामदा स्थावरा मैं स्थावर से आरंभ करके यम संसार गति जो संसार गति दुनिया को प्राप्त हुआ करती है उसको अनुक्रमण करते हुए क्रमश कैसे कैसे कौन सी गति किसको प्राप्त होता है वर्णन करते अंत में उन्होंने लिखा ब्रह्मा विश्व सृजो धर्मो महान अव्यक्तम एवच उत्तम सात्विकी मेताम गति माहुर केवल कर्म की गति और अवेद कर्म निश्चित कर्म आदियों की गति बुद्ध स्थावर आदि योनि तीर्य योनियों से आरंभ किया मनुस्मृतिकार ने जो अविहित कर्म करता है वो तो फिर भी अच्छा है लेकिन निश्चित कर्म करता है वो और ज्यादा खराब है हाँ, या नहीं इसलिए निश्चित कर्म और निश्चित विहित दोनों को छोड़कर बिल्कुल ही लौकिक कर्मों में जो व्यस्त रहता है चार वाक जैसे उसको शुरू किया जाए उम्र से आरंभ करके फिर उससे जो निश्चित कर्म करने वाला नीचे नियम में जो जाता है उससे जो अविहित कर्मों को कर रहा है और विहित होता हुआ असमित करने वाला स्थावर आदि को प्राप्त होता है और इस वजह से केवल कर्मों का फल स्वर पर्यंत गिना दिया फिर उसके बाद कर्म की उपासना करने वालों का गणना करते करते करते करते अंतिम श्लोक में बात बताया सर्वोत्कृष्ट यदि गति कर्म और उपासनाओं के माध्यम से प्राप्त हो सकता है जो सात्विकी इन एकता उत्तम गति जो सात्विकी है उत्तम गति है ऐसी गति कौन सी है सर्वोत्कृष्ट नंबर एक में ब्रह्मा जी हैं ब्रह्मा हो गया चतुर्मुखी उससे भी छोटा विश्व सृज विश्व सृज का प्रजापति मरीची प्रबल गया विश्व सृज प्रजापति मरीची प्रबल गया उससे भी छोटा पद यमराज जी का पद यम पद की प्राप्ति और धर्मो यम महान उससे भी छोटा हो जाता है सूत्रात्मा महान सूत्रात्मा को लेकर और अव्यक्तमेव अव्यक्तम तुम्हारा तो प्रकृति लय ये जो चीज है ये जो गतिया प्राप्त होते हैं सत्व परिणाम का वो भी ज्ञान सहित कर्म फलभूताम सत्व का परिणाम क्या सात्विकी हुई उपासना सहित तो उत्तम गति इतनी ही हो सकती है इससे आगे और कुछ नहीं ऐसे विद्वान लोगों ने कहा है इस तरह से अपर विद्या का प्रकरण समाप्त हो गया अब पर विद्या जो बताया गया था और पहले बोल चुके थे यदि भी पर विद्या के बारे में पूछा गया था सीधा ही पर विद्या का जवाब देना चाहिए था किंतु साक्षात पर विद्या का कथन करने पर वहां पर विद्या कभी सफल नहीं हो सकती है जब तक उस परविद्या के प्रतिबंध की भूत अपरविद्या का विषय भूता लोक पर्यंत सकल फलों के प्रति वैराग्य जब तक नहीं हो सकता तब तक जो है परविद्या सफल नहीं हो सकती अतः पर विद्या के लिए अंगभूता वैराग्य का हेतुभूत संसार की गतियों का वर्णन करने के लिए ही अपर विद्या का स्वरूप कथन अभी तक किए थे और अब पर विद्या के लिए मूल कारणीभूता जो विवेक और वैराग्य है उसको बताने के लिए आरंभ करते हैं परीक्षिलोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेद माया कृतेर तद विज्ञानार्थम सगृम समीपाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम भाष्यकार अवतरणिका इसको दे रहे मंत्रार्थ बाद में कर लेंगे अब पहले अवतरणिका देखिए अगर इधानी अस्मात् साध्य साधन रूपा सर्वस्मा संसारा विरक्त परस्या विद्याम अधिकार प्रदर्शनार्थम इदम उच्चत है आप जो है अस्मात् साध्य साधन रूपा साध्य साधन रूपा जो कुछ भी अपर विद्या का विषय है वो संपूर्ण अपर विद्या का विशेष है अर्थात संसार से जो विरक्त विरक्त पुरुष के प्रति जो कि परा विद्या में पर विद्या में परस्या विद्यायाम अधिकार पुरुषार्थम वही व्यक्ति को पर विद्या में अधिकार प्राप्त होता है इस बात को बताने के लिए ही अगला मंत्र आरंभ होता है परीक्ष लोकान कर्मचितान कर्म से प्राप्त हुए जो संपूर्ण लोगों को जो परीक्षा मान विवेक द्वारा परीक्षा करके नित्य अनित्य नित्यानित्य विवेक करना है क्या ये लोक नित्य है या अनित्य या इस लोक में जो हमें भोग्य प्राप्त वस्तु नित्य है या नित्य है या लोक और वस्तु दोनों नित्य हो लेकिन उनसे जन्य जो सुख है तत्संबंध से जन्य जो सुख है वह सुख नित्य या नित्य है यदि मान लिया जाए कि यह जगत भी नित्य है और जगत का विषय जो हमें उपभोग उपभोग्य रूप में प्राप्त होता वह भी नित्य है तन तो सुख भी नित्य है मान के भी चला जाए तो क्या इन सबको भोगने वाला जिस शरीर को लेकर के हम बैठे हुए क्या ये शरीर नित्य या नित्य है इन सारे चीजों को सम्यक प्रकार से स्वकर फलभूत रूपेणा प्राप्त या लोक रूपी शरीर से लेकर के शरीर को भी लोक कहा गया है जीव को भी लोक शब्द प्रयोग होता है या बाह्य लोक को भी लोक शब्द होता है घटपटादि विषयों को भी लोक शब्द से प्रयोग किया गया है सब कुछ लोक ही है कि लोक के तौर तो ये नहीं थी लोका आप वर्ग ये न कर दो तो कर्म में चला जाएगा असौ तो कर्म में चला जाएगा जैसे उत्पत्ति करोगे वैसा ये लोक शब्द का सर्वत्र व्यवहार होता है इसलिए परीक्ष लोकान स्व शरीरादारभ्य लोक पर्यतान सर्वान परीक्षा इसलिए आचार्य शंकर स्पष्ट ही उपदेश शास्त्री में श्लोक में बोल रहे हैं कि भाई जिस व्यक्ति को अपना शरीर से वैराग्य नहीं हुआ उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार के पर विद्या या संसार संबंधी अन्य वैराग्य के विचार करना कथन करना व्यर्थ ही है इसलिए महात्मा के पास भगवान शायद शरीर में ज्यादा रोग को भेजते हैं ताकि इसको शरीर से जल्दी वैराग्य हो जाए और तब भी वैराग्य न हो फिर महात्मा किस बात का और हाँ, जल्दी से जल्दी भेज दे तो और भी अच्छा रहेगा जवानी में ही रोग अटैक हो जाए अच्छी तरह से तो की जल्दी आ जाएगा नहीं तो जवानी का जोश में बहुत उछलेगा बहुत गलत काम कर बैठेगा बाद पछता करता तो बुढ़ापे पिक्चर की क्या फायदा मेरे पहले से इसको नियंत्रण में रखने के लिए कुछ चाहिए ना चाहे रोग आदि हो चाहे कुछ भी हो या कोई एक ऐसी छेड़ी मिल जाए तो कोर्ट कचहरी पहुंचा दे नहीं तो अपने आप जल्दी वैराग्य हो जाएगा एक दबा ले सब बेकार है करके छोड़ेगा विवेक जगना मुश्किल हो गया है स्वतः विवेक जग जाए ये तो बड़ा सौभाग्य की बात होगी इसलिए तो परिचलोकान कर्म चितान अपने कर्म का चयन के द्वारा प्राप्त फलभूत लोगों को परीक्षा करके ब्राह्मणों निर्वेदम माया मोक्षाभिलाषी जो ब्राह्मण है वो राज्य को प्राप्त करे क्या वो तर्क रखेगा परीक्षा का आधार क्या है कदे नास्त्य कृत वह यह निष्कर्ष निकालना चाहिए उसे कि वे अकृत की प्राप्ति कृत के द्वारा नहीं हो सकता कृपया अकृत नास्ती कृत के द्वारा अकृत की प्राप्ति नहीं हो सकती यह दृढ़ निश्चय जब कर लेता है तद विज्ञानार्थम फिर उस अकृत का विज्ञान कैसे होगा उस अकृत का विज्ञान प्राप्ति करने के लिए स ब्राह्मण गुरु मेवाभिगछ वह ब्राह्मण गुरु के शरण में जाना चाहिए गुरु के पास जाए कैसे जाए कद समित पानी संदा समित पानी सन समित पानी हो करके उसे जाना चाहिए श्रद्धा आदि से युक्त होकर जाना और कैसे गुरु के पास जाना चाहिए गुरु का भी विशेषण दे दिए दोनों चेले का एक विशेषण गुरु का दो विशेषण चेले के लिए एक ही विशेषण दे रहे हैं आपको समेत पानी होकर जाना है लेकिन जिस गुरु के पास जा रहे हो गुरु दो विशेषण से होनी चाहिए श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ एक तो श्रोत्रिय होना चाहिए जन्म तक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो उचित समय समय अनुसार में होने योग्य और सदर संस्कारों से युक्त हो वेदादि को अध्ययन भी इसलिए समय प्रकार से किया हुआ हो अर्थात पहले वो जातिता शुद्ध माता भी ब्राह्मण हो ब्राह्मणी हो पिता ब्राह्मण हो ऐसे आज के जान में मिलना मुश्किल है लेकिन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है सौभाग्य है और ब्राह्मण कुल में हो गया इतना ही नहीं आजकल ऐसे मिल भी जाए लेकिन संस्कार का कर रहे हैं लोग यहाँ हम देखते हैं ब्राह्मण के बालक बीस उम्र हो गया जिन्होंने संस्कार कर अरे तो शुद्ध हो गया फिर क्या रहिए ब्राह्मण अब जो भी पहना तो क्या फर्क पड़ना है गधे पर पहनाने के जैसा हो गया कोई फायदा नहीं बीस बाईस उम्र में जाके जिन्हों डाल दोगे तो क्या होगा कब वो गायत्री का अभ्यास करेगा कब गायत्री का अंतरण शुद्ध करेगा कब वो गृहस्थी की योग्य बनेगा पचास उम्र में बनेगा योग्य तब शादी करेगा क्या फिर सारा काम बिगड़ा हुआ है इसलिए सम्यक प्रकार से उचित समयों में आठवीं उम्र में उसको जन्म संस्कार हो गया कल से गायत्री से जब तब कर रहा है वेद का श्रवण कर रहा है वेद वेद वेदांत का श्रवण कर रहा है भजन कर रहा है सब कुछ अब नित्य कर्म आदि करते जा रहा है अनादि ऐसे उसने विप्रत को पाया फिर वेदांत को समय प्रकार श्रवण विरक्त तो वेदांत को श्रवण करके जो वेदांत को पचाया है वही व्यक्ति श्रोत्री कहा जाता है लेकिन वेदांत के तत्वार्थ का संदेह प्रकार से मनन करके तत्व निश्चय मैंने किया किंतु अभी उसमें निष्ठा नहीं है वो भी आपको बहुत बढ़िया पढ़ा सकता है लेकिन ऐसे व्यक्ति श्रोत्रिय गुरु के मुख से सुनने से आपको भी बहुत कुछ अच्छा लाभ तो है इसमें संशय नहीं है बहुत लाभ है श्रोत गुरु के मुख से सुन लिया तो आपकी गाड़ी बहुत आगे तक खिसक जाएगी और ब्रह्मनिष्ठ के मुख से सुन लेते हो सुनते वक्त ही उसकी मुक्ति हो जाए कि मुक्त पुरुष के मुख से सुन रहे हैं तो वह अपने आप उसके वाणी की वह सामर्थ्य हो जाता है उसकी दृष्टि का वह सामर्थ्य रहता है कि वह जब करुणा पूर्वक दया पूर्वक गुरु अपने अंदर से सारा ज्ञान को उड़ेल देता है स्वरूपानुभूति यही होगा उसको देर नहीं लगता लेकिन उसमें भी शिष्य पहले नास्ते कृत्य पूर्ण वैराग्य संपन्न तो नहीं तो सामने कृपलमेश तो किया शंकर भगवान आज जब कोई भी आज जाए बर्फ कुछ नहीं बनने वाला उल्टा घड़े में क्या होगा पानी थोड़े बढ़ने वाला है वो स्वयं योग्य हो और गुरु जैसे मिल जाए फिर तो तक्षण अनुभूति हो जाएगी देर नहीं लगता है तो उसके लिए कहते ब्रह्म में निष्ठा भी बना हुआ है जिसका ऐसा गुरु इसी बात को मन में रखकर शायद आचार्य शंकर ने कहते हैं महापुरुष संश्रया दुर्लभम में ये वही तत्व उसमें गिनाते वक्त यही गिनाया अंत में कहा कि भाई एकार श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ गुरु का मिलना मुश्किल है गुरु मिलना ही मुश्किल है बनिया गुरु आजकल सब जगह मिल रहे हैं गुरुओं में भी हमें अभी व्यवस्था देना पड़ रहा है गुरुओं में भी चतुर्वर्ण की व्यवस्था देनी पड़ी सूत्र गुरु वैश्य गुरु क्षत्रिय गुरु और ब्राह्मण गुरु गुरु में भी चार कोटि करनी पड़ेगी अब नहीं चौबीस घंटा कर्मयोग के ही जानता है कर्मयोग की शिक्षा देने वाला वो शूद्र गुरु है और वो विद्या के विद्रोही है वो शूद्र गुरु मुकोटि में डालना जो शुरू में कर्मयोग करा पहले मेरे उपासना और ज्ञान में ले जा रहा है वो नहीं वो तो सर्वोत्कृष्ट गुरु में आए ब्राह्मण गुरु में आ जाएगा जो केवल कर्म में ही लगा रखा है और उपासना से भी लेन देन नहीं भक्ति से भी मतलब नहीं ज्ञान से तो बहुत दूर उल्टा पढ़ा देते हैं पढ़ना लिखना बामन बजरे साधु सीताराम ऐसे जो होते हैं ये शुद्र गुरु है और जो कहते हैं मेरा मिशन को मुझे बढ़ाना है मेरी संस्था को बढ़ाना है इसलिए हम आपको चेयर आपको आएगा तैयार करें आप ही जा करके बाहर एक आश्रम बनाओ और वहां हमारे नाम को प्रचार करो ये मिशन बाजी वाले जितने हैं ये जितने मिशन और मिशन बाजी है ये सब वैश्य गुरु कोटि में वो केवल आपको कैसे कैसे बतौरना है वो तरीका टैंपलेटों को प्रिंट करने की शैली सिखाई जाती है और उसको ऐसा बोलने की शैली सिखाया जाएंगे कि जब जाके बोलेंगे तो जरूर आपको एक लाख रुपये कम समय सेट दे ही देगी ऐसी टेक्निक दिया जाता है तो वैश्य गुरु लोग हैं और जितने ये बजरंग दल विश्व परिषद या अन्य अन्य सेनाएं बनी हुई दुनिया भर की ये जो सेना जैसे जैसे जो है धर्म के नाम पर लड़ गड़ने की साथ जुड़े हुए हैं और अपने छेड़ों को भी तुम भी चल इसी में वो सब क्षत्रिय ग्रोहों में से और ब्राह्मण गुरु तो पता नहीं कहाँ मिलेगा कितने हैं ये अल्पसंख्यकों में आज की भाषा में जो है ब्राह्मण गुरु तो अल्पसंख्यक कोटि में चला गया इनको भी आरक्षण कोटे में रखना पड़ेगा ये आरक्षित लोग ये यत्र तत्र सर्वत्र मिलने वाले नहीं है अत्यंत दुर्लभ है और उन ब्राह्मण गुरुओं में श्रोत्रिय ब्राह्मण गुरु हो जाए तो और भी विरल है और श्रोत ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण गुरु वो तो अत्यंत विरल है इसे जानकर गुरु के साथ दो विशेषण दिया और शिष्य के लिए तो एक विशेषण है और उसके अधिकारित्व तो अलग चीज है अधिकारित्व तो बहुत विशेषण है विवेक वैराग्य शब्द संपत्ति मुमुक्षता ये सारा आ गया और दृढ़ निश्चय है मुझे ब्रह्म लोक पर्यंत ब्रह्म पद सहित मुझे कोई भी चीज नहीं चाहिए इधम संसार सर्वम शुक्र विष्टा वक्त ऐसा निर्णय कर लिया लेकिन जब शुक्र विष्टावत जब आप संसार को तय कर रहे हैं तो शुक्र विष्टा शरीर में ये निर्णय भी होना चाहिए कहने के लोग तो सारा संसार मिथ्या है शुक्र विष्ठा के समान है एक अपना शरीर दो उसके लिए मैसूर से अंदर सोप की जरूरत है गंगा जी का रेत से साफ नहीं हो सकता है तो ऐसे उनके लिए क्या उपदेश देना है इसलिए यहाँ करते हैं कि भाई वो वैराग परिपूर्ण होनी चाहिए अपना शरीर से लेकर अपने इंद्रियों को से लेकर के अपना मन बुद्धि अहंकार से लेकर के समझ संसार को शुक्र निष्ठा जो संसार के अंतर्गत ये भी है ना संसार का बाहर का तो ही नहीं और समस्त संसार का वैराग्य के बाद आ रही है तो शरीर से भी तो वैराग्य स्वीकार करना ही पड़ेगा शरीर के प्रति मोह बना रहेगा अहंता बनी रहेगी और बाहर के प्रति आप केवल वैराग्य दिखाओगे वो व्यर्थ वैराग्य उसी को मिथ्या गीता जी में कहा वही दम्भ है इसी बातों के सतर्क होते हुए कहा गया कि निर्वेदम माया नास्ति कृत्य न समित पानी संसद गुरुमेवाभिगछे भाष्यकार परीक्षा यदि तद ऋग्वेद आदि अपविद्या विषय स्वाभाविकी अविद्या काम कर्म दोष पुरुषानुष्ठेयम अविद्या दोषवंतम मेव पुरुषम प्रतिविहित किसकी परीक्षा करनी है वह है जो ऋग्वेद आदि विद्या का विषय भूता वस्तु जो कि स्वाभाविक ही अविद्या काम कर्म दोष वाला है कैसा है विषय स्वाभाविक ही अविद्या जन्य काम और कर्म से जन्य दोषवान पदार्थ है सबके सब और किन के लिए नहीं है पुरुषम के दुरानुष्ठेय है कैसे पुरुष जिस पुरुष के अंदर अविद्या दोष वाला है अविद्या दोषवंतम मेव पुरुषानुष्ठियम ऐसे ऐसा पुरुष के प्रति ही इनका विधान हुआ है अविद्या दोषवंत पुरुषम प्रति विहित अविद्या दोष वाला जो पुरुष है उसके प्रति विहित है ऐसा पुरुष के द्वारा अनुष्ठी होने के कारण यह स्वाभाविक विद्या काम कर्म जन्य दोष वाला होकर के यह समस्त जो अपर विद्या कर्म वेद आदि वेद कर्म है वेद अवेद निषिद्ध आदि सकल कर्मों को परीक्षण सम्यक प्रकार से करके तद अनुष्ठानकारी भूताश्च लोका उन कर्मों का ही अनुष्ठान करने के कारण से उनका ही अनुष्ठान का कार्य होता जो ये लोक है दक्षिणोत्तर मार्ग लक्षण फलभूता जो दक्षिणायन मार्ग से उत्तरायण मार्ग से और तीसरे का कथन करने कोई आवश्यकता नहीं समझते हैं जो जायस्व मृयस्व का तीसरा मार्ग है ये सब फलभूत मार्ग हैं इन मार्गों के द्वारा प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोगों को एच वीत अकर्म प्रतिषेधातिक्रम दोष साध्य नर्ग तुर्येद वेद तान परीक्ष वो तीसरे को संक्षेप में गिना रहे हैं जो विहित को नहीं कर रहा कोई बात नहीं इन प्रतिषिध को भी तो न करें विहित को न करना कोई खास दोष नहीं है जितना प्रतिषिध को करना दोष हो जाता विहित को न करने का प्रायश्चित तो है ठीक है जिस समय जो करना चाहते नहीं किया था बाद में समझ में आई मैंने देरी से किया है या थोड़ा कुछ गलत ढंग से किया है उसको सुधारने के लिए प्रायश्चित का विधान है लेकिन जब प्रतिषिध है सर्वथा उसको भी अनुष्ठान करता है तो उसके लिए क्या होता है तारस तारस अतिक्रम के दोष के द्वारा साध्य बोधा नरक प्रिय का प्रेत लक्षण नरक योनिया स्त्रीय भूत प्रेदादि योनियों को प्राप्त करेगा जिसका कोई प्रायश्चित है नहीं अंत में कोई कुल में ऐसा महापुरुष जन्म ले ले जिससे कि वह भागवत को श्रवण करे करा रहे तब जाकर के भूत प्रतियों से मुक्ति पाएगा नहीं तो बेचारा भटक नहीं रह जाएगा ये सारी की सारी चीज क्या है लोका तान तान लोका परीक्षा वह यह इन लोगों को परीक्षण करके उन लोगों की व्याख्या जो भी दक्षिणा उत्तरायण मार्ग उनकी तरफ प्राप्त फल होता वह जो देवादि लेकर स्वर्ग से लेकर से मोह बाप का ब्रह्मलोक पर्यंत की वस्तु सारी चीजों को ले लिया और इधर जो अवैध कर्म और निषिद्ध कर्मों को करने वाला उसकी अधोगति वाले को भी वर्णन कर दिया ये सारे के सारे वस्तु का नाम लोकाहा तान तान लोकान सर्वान परीक्षा प्रत्यक्ष अनुमान आगम ही प्रत्यक्ष परीक्षा कैसे मैंने कसौटी का भी तो होगा परीक्षण के भी विभिन्न स्तर है किसी चीज का परीक्षण किया जाता है या किसी चीज की शोधन किया तो झटित एक वेद नहीं हो जाता क्रम से होगा जैसे पारे का देखिए शोधन करना है सोलह संस्कार है जान मारना भी कई है और सोलह संस्कारों के द्वारा तो शुद्धिकरण हो सकता है इसी प्रकार से यहां पर भी यह कह रहे हैं कि जितने भी हम परीक्षण जब करेंगे इस लोक को इसका भी तीन सीढ़ी कम से कम है एक तो प्रत्यक्ष अनुभव से समझो नित्य अनित्य को विवेक कर लो और उनसे व्रत हो जाओ अनुमान के द्वारा तो कई चीजें हैं आपको अनुमान से ही करना पड़ेगा प्रत्यक्ष से घट में अनित्यता में नहीं कर सकते हमने घट को खरीद के लाया और फूट गया तो समझ गए भाई ये तो ऐसे ही चीज होते हैं जितने भी जगत में हमें तो उपभोग्य रूप प्राप्त विषय वे अनित्य होते हैं जैसे देखो गढ़ा नष्ट हो गया इसे इदम परिदृश्यमान जगत अनित्य कार्यत्व घटवत विनष्ट घटवत यह कर सकते अब इसे की ये प्रत्यक्ष सिद्ध व्याप्ति है ना यहाँ यहाँ प्रत्यक्ष सिद्ध व्याप्ति को लिया आपने क्योंकि जय यत्र कार्यक्रम अंतर्गत विनाशितम अनित्यतम यथा मत दृष्ट विनष्ट घट जैसे मेरे द्वारा देखा गया ये विनष्ट घट के समान अतएव इधम सर्वम किंचित मत दृश्यम भवती तत्सर्वम अनित्यम विनाशी ऐसी जो है आप एक प्रत्यक्ष के आधार पर एक घट में जो अपने विनाशित्व अनुभव के आकारित्व आतित्व के आधार पर उसी समस्त जगत में आप अनुमान कर लें परिदृश्यमान जगत में फिर अपरिदृश्यमान जगत में जाइए पारलौकिक लोका जो पारलौकिक लोक होते हैं वे भी क्या है अनित्य है विनाशी है कार्यत्वात परिदृश्यमान जगत तभी जगत पर अधिष्ठान बना परिदृश्यमान लोक को दृष्टान ये अनुमान से जाना लेकिन हम तो सुनते हो भगवान नित्य है वो सब नित्य है फिर वो क्या होगा कभी उनके लिए आगम में छाओ जगदा ब्रह्म भुवन लोग अरे ब्रह्म लोग पर्यन सारा का सारा ब्रह्मा जी सहित मन स्मृतिया भी गिनाया ब्रह्मा विश्वत्र जो यम धर्म इत्यादि श्लोक के द्वारा और ब्रह्मादि पद सहित सब कुछ अनित्य आगमन से जानना पड़ेगा प्रत्यक्ष अनुमान आगमन के द्वारा सर्वदा यथात्म अवधार्य सर्वथा सब प्रकार से चिंतन कर लेना है और यथार्थ रूप निश्चय करके पकड़ लो क्या ये जो लोकान संसार भूतान अव्यक्त स्थावरांतान व्याकृत व्याकृत लक्षणान बीजांकुरेतर उत्पत्ति निमित्तान अनेक अनर्थ शत शत संयुक्त संकुलान कदली गर्भवद असारान माया मरीच उदका गंधर्व नगर आकार स्वप्न जल बुद्ध फेनर समान प्रतिक्षण ध्वंसान कृष्ण कृतवा भाष्यकार इतना विशेषण दे रहे हैं इस संसार के लिए ये संसार कैसा है सर्वतो यातात्मीन अवधारण का मतलब ऐसा दृढ़ निश्चय हो इन लोगों को आप ये समझे ये सब संसार गतिभूत वाले हैं गमना गमन वाले संसार है इतना ही नहीं अव्यक्त स्थावरान गमना गमन गति वाला संसार अव्यक्त से लेकर स्थावर पर सब के सब ऐसे ही है व्याकृत व्याकृत स्वर्ग वाले कहे जाते हैं बीजांकुर के समान ये इतने तरह उत्पत्ति और के निमित्त के कारण बन जाते हैं ऐसे अनेक अनर्थ शत सहस्त्र सहस्र सहस्र कहे से क्या मना नहीं शत बोले फिर सहस्र जोड़े फिर अनेक अनर्थ को दिया सैकड़ों हजारों और अनंत अनर्थ जाल रोपा है इसका कोई गिनती ही नहीं हो सकती है ऐसे अनर्थ जाल संकुलित है कदली गर्भ के समान असार है जैसे केले का पौधा है उसको निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ क्या होगा वो अंदर कुछ नहीं निकलता उसी के समान आहार वाला है और माया मरीची उदकवत माया मरीची जल के समान है गंधर्व नगराकार के समान है स्वप्न के समान है जल के बुद्ध बुद्ध फेन आदि के समान है प्रतिक्षण प्रध्वंस स्वभाव वाला है इनको पृष्ठतः इनको अनादर करते हुए कृतवा अविद्या काम दोष प्रवर्तित कर्म चितान धर्म निवर्तितान इत ब्राह्मण से ही अधिकार अविद्या काम दोष प्रवर्तित कर्म अविद्या काम अविद्याजन्य काम काम रूपी दोष के कारण से प्रवृत्त होकर के हम लोग कर्म को अनुष्ठान करते हैं और कर्म का ही चयन किए हुए जो उसी का फलस्वरूप धर्म अधर्म से निर्वर्धित इन समस्त लोगों को निर्वेद माया कौन ब्राह्मण से विशेषत्व तो दिखा रहा ब्राह्मण के अंदर ही यह संभव है इसलिए उसी को ही एकादश वैराग्य प्राप्ति में विशेष अधिकार माना जा सकता है क्योंकि स्वयं भगवान ने कहा है चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग गुण और कर्म के अनुसार स्वयं ब्राह्मण भगवान ने जो है ब्राह्मण की सृष्टि क्षत्र की सृष्टि वैश्य की सृष्टि शूद्र की सृष्टि किया है उनके गुण और कर्म ही ऐसा होता है उनके अंदर तो आसानी से वैराग्य नहीं हो सकता शुद्ध होगा वैश्य को भी इतना आसानी से नहीं होगा कुछ देर हो जाएगा फिर जहाँ बात पैसे की आएगी छत से उसके में आ जाएगा अरे ये दस का बीस कैसे बनाया जाए तुरंत चाहे वो जितना बड़ा मत मतादि बनाकर उसे बिठा दो तुम वो शंकराचार्य बना रहे हम इतना हम तुम्हें सम्मान देंगे वहां भी जा करके हिसाब किताब सब स्वयं ध्यान रखेगा उसका पूरा और क्षत्रिय है उसका स्वभाव कहाँ जाएगा अगल वाले एक इंच भी इधर कर दिया मेरा दीवार है तुमने कैसे इसको छोड़ दिया और लिख दे रहा है मेरा दीवार है तो दी वार यहाँ दी लिखा हुआ है पीछे दूसरे ने कब्जा किया था इधर दी उधर वार लिखा हुआ था निगम महाराज जी क्या क्या कर कोर्ट से लड़ रहे हैं कहते वो लड़ रहे क्या आप लड़ रहे हैं तो क्या दोनों लड़ रहे हैं <laughs> दोनों एक ही कोटी के अब क्या करें एक इंच है ना जैसे दुर्योधन एक सुई के बराबर जमीन नहीं दूंगा ऐसे सुई के बराबर मेरी दीवार इधर से उधर नहीं हो सकता लड़ाई उसके लिए कोर्ट में जा रहे तो छत्री ही है छत्र तो कहा जाएगा इसलिए पूर्ण वैराग्य तो ब्राह्मण के अंदर ही संभव है शुद्ध जो ब्राह्मण होगी जैसे बताया वो सब लक्षण वाला योग्यता वाला जो ब्राह्मण है इसलिए भगवान स्पष्ट ही कहते आचार्य शंकर ब्राह्मण से विशेष अधिकार सर्वत्याग ब्रह्म विद्यायाम ब्राह्मण ग्रमणम क्योंकि सर्वत्याग के द्वारा जो विशेष अधिकार ब्राह्मण के अंदर संभव है इसी ब्रह्म विद्या के प्रति इसलिए आशा मंत्रकार ने ब्राह्मण शब्द ग्रहण किया परीक्ष लोकान किंग परीक्षा करने की प्रक्रिया बता दी गई थी किस प्रकार से व्यक्ति स्वयं के कर्मों के द्वारा प्राप्त फल रूपेण प्राप्त जो संसार है जन्म आदि चक्र है विभिन्न लोगों की जो अनुभूति है विषयों के साथ संबंध है इनके कारण से और दक्षिणायन और उत्तरायण मार्गों के माध्यम से जो कुछ भी अनुभव होता है उन सबको समय प्रकार से परीक्षा करने के बाद और कैसे परीक्षा करनी है क्या चिंतन करना है वो बता दिया ये प्रतीक्षण प्रध्वंसी है इस अविद्या काम दोष से प्रवर्तित काम के द्वारा चेता प्रिय धर्माधर्म पुण्य पापात्मक से निर्वर्तित है और यह सब कुछ जो कुछ भी ये है इसमें भी कहा एक ब्राह्मण से विशिष्ट अधिकार है सर्वत्यागी प्रविद्याम ब्राह्मण ग्रहणम क्योंकि कारण इसका नहीं गया अनेकों शास्त्रकारों ने ब्राह्मण के वर्ण और आश्रम की व्यवस्था देते वक्त ही गुण और कर्म को आधार बनाया गया है व्यक्ति का जन्म को आधार नहीं बनाया गया था आजकल तो जन्म के आधार पर ही सब व्यवस्था हो गुण को नहीं देखा जाता है कर्म को भी नहीं देखा जाता क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है कोई लेन देन नहीं कर्तव्य कर्तव्य को समझ कर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसको समझ कर कर ही नहीं रहा है ऐसे को भी सब ब्राह्मण मान लेते और जो गुण का वर्णन कर रहे हैं नई तारसम ब्राह्मण सियाप्ति वित्तम यथेकता समता सत्यता चील स्थिर दंड दंड निधानम और जब हम तदस्तों परम क्रियाप्य कहते इससे बढ़कर कोई और धन ब्राह्मण का नहीं है ब्राह्मण का वास्तविक धन क्या है वो ये ये नहीं उसे कार घोड़े हैं बड़ा बंगला बना लिया इन चीजों को धन नहीं माना गया ये तो वैश्य के लिए है ब्राह्मण के लिए नहीं ब्राह्मण के लिए यही धन है जिसके बराबर कोई धन ही नहीं संसार में कौन सा धन है कई एकता सभी को एक समान दृष्टि से देखे सभी के समझे कि ये सब भगवान की ही सृष्टि होने के हैं सब इस धरती के प्रजा है इन सब को सम्यक प्रकार से शिक्षा देना और समय का सबको समय प्रकार से मार्गदर्शन प्रदान करना ये मेरा दायित्व है यह मान करके सबको एक दृष्टि भेद भाव के बिना सम्यक प्रकार का मार्गदर्शन प्रदान करे शिक्षा प्रदान कर रहे ये ब्राह्मण का कार्य है और इसलिए एकता समता सभी एकत्व दृष्टि सभी मनुष्य सामान्य प्रजा सामान्य है अतः सभी में समत्व दृष्टि सत्यता च और सत्यंत्र जितना जानते उतना बोले नहीं जानता हाँ, हाँ, कर देंगे जी आजकल के पंडित जो है ना पैसे कमाने के लिए आवे जावे पूजा पाठ कुछ नहीं जो भी कहा हाँ, हम करा देंगे और बहुत करा चुके हैं बोल देते हैं तो इतना झूठ बोलते हैं अब बाहर देखो पुस्तक में ढूंढेंगे कहाँ है मंत्र और बोलते हुए अशुद्ध अशुद्ध बोलते कभी बोला ही नहीं उस मंत्र को पता ही नहीं है तो क्या करेगा अब कहीं तो पोथी तो इकट्ठा कर ही लेता है और काम चला लेता है अभी हमें पता चला कि ऐसा पंडित जो कि शादी कराया वो तो गीता जी के श्लोकों को बोल के अब जाते हैं तो क्या करेगा उसने रटा हुआ था तो पंद्रवा अध्याय और पंद्रवा अध्याय को पांच छह बार बोल दिया यहाँ भंडारा खूब खाया होगा तो पंद्रवा अध्याय तो याद थी उसको तो उसी को उल्टा सीधा करके जो है दस बीस बार बोल डाला और लोगों को क्या पता गौ मंत्र बोल रहे हैं कुछ बोल रहे हैं उन्हें क्या पता गीता जी है नहीं जो लोग थे राष्ट्र को चढ़ाए थे कथा प्रजन में जाते सत्संग में जाते हैं नीति गीता पाठ उठ करके समझ लिए कहे भी हम लोगों ने जाके क्या पंडित जी क्या हो रहा है अरे हाँ बस शांत रहो आप हमें करने दो ना और उन्होंने बारह सौ रुपये बैठ के चल दिया अरे पाप है तो पुण्य क्या वो ब्राह्मण कहा जाएगा इसलिए करेगा तो सत्यता नाम की चीज ही शीलन उसका स्वभाव उसकी स्थिति स्थिति मर्यादा का अतिक्रम नहीं करता नातिक्रम नतिक्रम हो गया है मर्यादा में नतिक्रमा ठीक है नतिक्रमा मैंने हमेशा विनय भाव नमस्कार करता है झुका रहता है नतिक्रमा सात नंबर टिप्पणी दंड निधान मैंने प्राणी पीड़न वर्जन दंड को निदान निधान दंड को निकाल के दूर में रख दिया अर्थात अब किसी को भी वो मारेगा पीटेगा नहीं मन से काया वाचा मन सा किसी भी प्रकार से प्राणी पीड़ा वर पीड़न वर्जनम और जब मन सरलता ये सब के साथ साथ क्रियाप्य तथा तथा उपरा क्रियाओं से बाह्य क्रियाओं से धीरे धीरे धीरे उपरांत को प्राप्त करना यह सर्वश्रेष्ठ धर्म है ब्राह्मण के अंदर ये गुण ये स्वभाव उसके अंदर होनी चाहिए नहीं तो है तो शूद्र है भले जाति से जन्म से ब्राह्मण के घर में जन्मने से क्या हो गया अशुभ ही मान या क्षत्रिय धर्म है तो क्षत्रिय मानना चाहिए वैश्य धर्म है तो वैश्य ही मानना चाहिए तो कहते हैं और देखो महाभारत का भी दिया शांति पर्व अत्रोहस्र भूदेश कर्मणा मनसा गिरा अनुग्रहश्चान शीलम एक तश्यते यदन्येषा शांत न पर पौरुषम अपत्र वेदवायन न तत्कुरिया कथंचन तत्व कर्म तथा कुरिया ये संसदी शीलम समासे नहीं दत्ते कथित गुरु सप्तम हे क्रवंशी में श्रेष्ठ युधिष्ठिर ये ब्राह्मण की विशेषताए हैं अद्रोह किसी को नहीं मानता चाहे कोई कुछ उसके साथ किया हो तभी वह किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानता है ठीक है उसका अपना कर्म था अपने उसके संस्कार है गलत कर गया गलत कर गया तो वो हमारा क्या बिगाड़ा उसने बल्कि हमारे किसी जन्म का कोई लेन देन कर्जा बाकी था उसको चुकवा लिया अच्छी बात है ना हम तो चुकाना नहीं जानते थे उसने हमसे चुकवा लिया है तो उसके लिए धन्यवाद का पात्र है तो नाराज किस बात के हो तो हमें धन्यवाद देना पड़ेगा अरे आपने बहुत अच्छा किया नहीं हमारा बीस घंटा इंटरनेट खराब कर दिया नहीं तो अच्छी बात है उतना पैसा लेन देन बाकी थी ले गया वो उस रूप से ले गया तो क्या करें तो जैसा भी हो ये सब ऋण है ऋणानुबंध जिसको कहते हैं ऋणानुबंध है ये भाव में दृढ़ होकर के तो ठीक है जो हो गया अच्छा हुआ अद्रोह सर्वभूतेश और भी कैसे कर्मणा मनसा गिरा काया वाचा मनसा किसी भी प्रकार से उसकी बुरा नहीं चाहता अनुग्रह दान और सब पर अनुग्रह करने वाला दान दान भी देता है लेता ही नहीं केवल इसलिए लेने की बात ही नहीं कहा आदान में नहीं करे दान लेने का तो उसे एकमात्र को अधिकार है ही लेकिन लोग उतने को पकड़ लेते हैं हमें लेने का ही अधिकार है देने का नहीं इधर कहते नहीं देना भी तुम्हारा काम ज्ञान दान देता है मैंने विभिन्न प्रकार का दान दे सकता है जो उसके पास वही ना देगा निश्चित तो दुर्योधन से कहा और क्या करूं इससे से लोगों ने कहा भी तुम चुपचाप क्यों खड़ा होता तो बड़ा है थप्पड़ मार छोटे को दुर्योधन गाली बकरा है तो चुपचाप खड़ा है बोले क्या करो बेचारा उसके जेब में तो गाली तो है तो गाली दे रहा तुम तो कुछ बोलो तुम भी एक गाली दे दो दबा दो ना कम से मेरे पास आई नहीं तुम्हें कहा तो दो गालिम गालिम गालम तो श्लोक ही है संस्कृत में भी गाली बोलते हैं तो इस तरह से जो है जो जिसके पास है वही वो दे जाएगा उसके पास ज्ञान है ज्ञान का दान करेगा ब्राह्मण और क्या करेगा करोड़ रुपया तो है ना उसके पास अरे वैश्य के पास होगा तो इसे कहते कि देखो कि ये जो चीज है ना उसके दानंज शीलम में तक प्रशस्त है ये तो उसके शील जो है ना श्रेष्ठ प्रशस्त शीलम श्रेष्ठ शील उसका हुआ करेगा स्वभाव कहते हुए वर्णन कर देते संक्षेप में यद अन्य हितम न आत्म कर्म पोषण जो अपने लिए और दूसरों के लिए हित नहीं है हितकारक नहीं है ऐसा कर्म भले समर्थ है तो वो करेगा नहीं आत्मना प्रतिकूलानी परेशान मासम आचरे का संक्षेप में दूसरे ढंग से शब्द में कह दिया अपत्र वाले ना जिस क्रियाकलाप से स्वयं को लज्जित होना पड़ता है ऐसी क्रियाकलाप को कभी भी नहीं करनी चाहिए न कुरियात कथन तत्व कर्म तथा कुरियात उन कर्मों को उस प्रकार से कर देनी चाहिए ये निष्णाभ्य तो संसद जिसमें सारा संसार के सदासद में प्रशंसा ही होगा शीलम समास है नहीं तथ्य ये ब्राह्मणों का संक्षेप में कहा हुआ शील है समझो इत्यादि अनेक शास्त्र प्रमाण है जिस जिसके करे विशेष तो अधिकार यदि टिप्पण खा गुजारे हैं विशेषतः का कहने का तात्पर्य ब्राह्मणेतर संन्यास अधिकार अनुमन्यते एवं भाषकृति की अवधेय लेकिन ये बात बनती नहीं है टिप्पणकार भले कह दिया तेने उचित नहीं है क्योंकि ब्राह्मण परिवराजक न्याय कैसे लागू होगा क्योंकि जब प्रसंग आएगा प्रधान ने विस्तार रूप से फिर तर्क दूसरा देते हुआ सुरेश्वराचार्य वार्तिक में इसीलिए वो कहते हैं कि भाई जिन जिन को जनो छोटी कर्म प्राप्त है उन सबको छोड़ने का अधिकार है ये युक्ति देकर के वो जब उनको जन्म का अधिकार है कर्म का अधिकार है तो उनको त्यागने का भी अधिकार है क्षत्रिय और वैश्य ऐसा इस युक्ति का वो सिद्ध कर पाते हैं क्योंकि वहां भाषाकार कहते हैं ब्राह्मण परिवराज न्याय सन्यासी ब्राह्मण एवं ये ब्राह्मण परिवराजक हो जाने मात्र से उसकी ब्राह्मण प्रश्न नहीं होता अति सन्यासी ब्राह्मण ही है ये जो वहां पर पंक्ति लग देते हैं उससे स्पष्ट होता है कि क्षत्रिय और वैश्य को संन्यास का कोई अधिकार नहीं तो यहाँ कैसे घटाओगे विशेषत्व अधिकार ब्राह्मण को ही विशेषत अधिकार है अन्यों को नहीं पर ये समझना पड़ेगा यहाँ पर भी उसको अर्थ करते वक्त देने की जैसे टिप्पण कार नहीं करे वैसे नहीं लेना है किंतु यहाँ लेना चाहिए उन ब्राह्मणों को ही अधिकार है जिनके अंदर गुण है अन्य बने जाति वर्णता और आश्रम का भी ब्राह्मण आदि योग्य हो तो भी इन गुणों से जो असंपन्न है या वैराग्यहीन जो ब्राह्मण भले वर्ण ब्राह्मण वर्ण का धर्म पालन भी कर रहा है आश्रम धर्म जो भी रह रहा है ब्रह्मचर्य ग्रस्त जो भी धर्म पालन कर रहा हो वर्णाश्रम धर्म का सम्यक परिपालन करने के बावजूद भी वैराग्यहीन जो ब्राह्मण है उसका व्यावर्तन करने के लिए और विशेषत अधिकार कहा जा रहा है क्योंकि वैराग्य का प्रसंग है यहाँ पर ये तो ब्राह्मण से विशिष्ट अधिकार सर्व त्यागी विद्या विद्याया ये जो विशिष्ट अधिकार प्रसंग देखने से लगता है वैराग्य विशिष्ट ब्राह्मण ही को यह विशेष अधिकार है और वैराग्य रहित एकाश गुण संपन्न होने के बावजूद उस ब्राह्मण को संन्यास में अधिकार प्रविद्या में अधिकार नहीं ये ब्राह्मणों में ही विभाजन कर दिया है विशेषतः शब्द के द्वारा जो केवल एकाश गुण संपन्न है वर्णाश्रम धर्म संपन्न है किंतु परीक्षण कारण वैराग्य को प्राप्त नहीं है ऐसा ब्राह्मण को भी संन्यास का अधिकार ब्रह्म विद्या का अधिकार नहीं है ये बात को स्थापित करो